और किसी जान के लिए कभी मुमकिन नहीं है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर मर जाए मुकर वक्त लिखा हुआ है और जो कोई दुनिया का बदला ही चाहता है हम उसे दुनिया में ही देंगे और जो आखिरत का बदला चाहेगा उसे हम आखिरत में देंगे और बहुत जल्द हम शुक्र करने वालों को जजा देंगे